किसी को भी आंखें जलती हो गर्मी लगती हो तो बाहें नाक से श्वास ले और रोके ओम शांति शांति जप करे सवा मिनट फिर दाएं से छोड़े ऐसा दो तीन बार करे तो लू अथवा गर्मी का कुप्रभाव नहीं पड़ेगा किसी को मुंह में छाले पड़ गए हों अथवा आंखें जलती हों तो धनिया पचास ग्राम सौंफ पचास ग्राम धनिया पचास ग्राम आंवले का पाउडर मिल जाए तो अच्छा है और पचास ग्राम मिश्री मिश्रण बना दे दस बारह ग्राम दोपहर को भेगा दे शाम को तीन चार बजे मसल के पिए नींद अच्छी आएगी आंखें जलना बंद हो जाएगा मुंह के छाले बाले ठीक हो जाएंगे मासिक धर्म की अति तकलीफें भी ठीक हो जाएगी जिसके घर में झगड़े होते हों तो एक गिलास पानी भर के रखे पलंग के नीचे घर का मुखिया गिलास या लोटा और फिर सुबह पीपल में बड़ में तुलसी में डाल दे रसोई घर में और घर के और कमरों में खड़ा नमक मिलता है दो रुपये किलो आयोडीन आयोडीन ये सब लूट है दो रुपये किलो नमक खूब मिलता है आयोडीन वाला भी पाँच रुपये किलो मिलता है तो नमक में ठगे मत जाओ तो डेढ़ दो रुपए किलो नमक मिलता है सांबर लेकर तो डेढ़ रुपए मिल जाएगा वो नमक लेके रखो और हफ्ते में एक दिन घर में नमक का पोता करना चाहिए जिससे नकारात्मक विचार और कमजोर कमजोरी के कण और कीटाणु नष्ट हो जाए घर में सकारात्मक विचार और सद्भाव बढ़ेगा जिसके घर में बरकत नहीं है वो घर के मुख्य व्यक्ति इतवार को नमक बिना का भोजन करे और घर से बाहर जाए तो 21 बार वो मंत्र जपे गीता का श्लोक यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति में मती ये श्लोक पढ़ के इक्कीस बार जावे तो रोजी रोटी में बर, बरकत मिलती है गंगापुर सिटी वाले सुन रहे हैं तो भगवान की भक्ति भगवान की सरलता से भक्ति मिले वो ध्यान से सुन लो मित्र ने तुम्हारे को माँ ने बाप ने भाई ने पत्नी ने किसी ने कुछ बोल दिया तुमको अच्छा नहीं लगा लेकिन उस समय तुरंत तुम अंतरात्मा में जाओ कि मित्र के द्वारा जो कड़वा व्यवहार है उसकी गहराई में कौन है और शत्रु जो मीठा व्यवहार करता है तब भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि शत्रु है वो टोंट मारने के लिए बोलता है कि तुम तो भले आदमी हो या तुमने यह काम अच्छा किया तुम ऐसा हो तो शत्रु हमारी बड़ाई करता है तो भी दुख होता है और मित्र हमारे को टोकता है तो भी दुख होता है अथवा तो कोई अनुकूलता आती है तो हमें सुख होता है प्रतिकूलता आती है तो दुख होता है लेकिन ये सुख और दुख अनुकूलता और प्रतिकूलता जो भी कुछ होती है उसके पीछे हाथ किसका है मित्र और शत्रु की गहराई में हाथ किसका है उसका ध्यान रखें मित्र और शत्रु की गहराई में हाथ किसका है अनुकूलता और प्रतिकूलता की गहराई में हाथ किसका है तो हाथ तो उसी परमात्मा सत्ता का है और जो दुख और सुख होता है उसको जानने की सत्ता भी परमात्मा सत्ता है वाह प्रभु तू दुख देकर अहंकार और पाप मिटाता है सहन शक्ति बढ़ाता है और सुख देकर विषाद हताशा मिटाकर उत्साहित करता है दोनों समय में भगवान की लीला को महत्व दे तो भक्ति ऐसी बनेगी ऐसी भक्ति बनेगी कि कोई मंदिर में चाहे दस घंटे बैठा रहे तुम तो चलते फिरते चौबीसों घंटे भगवान के मंदिर में पहुंच जाओगे संसार तुम्हारे लिए मंदिर हो जाएगा गंगापुर सिटी बस सचमुच में गंगापुरी हो जाएगा एकदम सार बात है बहुत भारी फायदा होगा चालीस दिन का खाली प्रयोग कर लो जब भी दुख आए सुख आए तो उसकी गहराई में देने वाले की गहराई में और अनुभव करने वाले मेरे में कौन बैठा है रात को जो अच्छे स्वप्न आते सुखद अथवा दुखद अवस्था कई चित्र विचित्र रंग आते हैं कई चित्र विचित्र स्थान आते हैं कई चित्र विचित्र भाव और भाव भगिनी वाली घटनाएं आती हैं इन सब की गहराई में कौन है हे प्रभु तू जन्मराधाता हे अंतर्यामी हे गोविंद हे गोपाल हे अच्युत एक एक नाम की बड़ी भारी महिमा है गोमाना इंद्रिया इंद्रिया जिसकी सत्ता से विचरण करती वो अंतरात्मा का नाम गोविंद है जयपुर में तो गोविंद जी का मंदिर है वो मंदिर तो पुजारी के <laughs> चाबी में खुलता है और बंद होता है लेकिन तुम्हारा हृदय मंदिर किसी पुजारी के हाथ की गुलामी नहीं है हे गोविंद हे गोपाल ओ पुरिया सुन रहे हो अंदाता अंदात्री होने रिया हो क्या हे गोविंद हे गोपाल तो गोविंद माना जिसकी सत्ता से इंद्रियां विचरण करती है गोपाल का मतलब होता है कि इंद्रियां थक कर रात को नींद में जाती है उसका पालन पोषण अंतर्यामी प्रभु करते हैं इसलिए उनका दूसरा नाम पड़ जाता है गोपाल तो गोविंद भी थे हो गोपाल भी थे हो अच्युत भी थे हो शरीर चुत हो जाता है दुख चुत हो जाता है सुख भी चुत हो जाता है चला जाता है लेकिन तुम तो ज्यो के त्यों रहते हो तुम अच्युत भी हो गोविंद भी हो गोपाल भी हो राधा रमन भी तुम हो मेरे अंदाता तो प्रभु जी जय हो राधा उल्टा दो तो धारा ख्यालों की वृत्ति की जो धारा है उस वृत्ति की धारा में सत्ता किसकी रमण करती आंख ने देखा कुछ है मन ने कहा कि ये थावरिया है बुद्धि ने कहा नहीं थावरिया नहीं है ये तो तोना जी है अंधारा में दिखे कोई नहीं तोना जी है कि थावरिया है बुद्धि निर्णय करे कोई नहीं કે નજીક ભાડો નજીક વાળ્યા કે થાવરિયા નહીં તો ના ही नहीं है ये तो चौपाजी है अरे मारा रोम तो ये सब कौन लीला करवाता है अरे मारा रोम रोम रोम में रम रहा है ज्ञान स्वरूप वही तो है इस प्रकार की नजरिया से जो तुम चालीस दिन जियो तो तुम्हारी चालीस साल की भक्ति हो जाएगी ऐसा एकदम निचोड़ निचोड़ बता रहा हूं हो गंगापुर सिटी अब मैं तो वायदा किया एक बार गंगापुर सिटी में सत्संग करेंगे हेलीकॉप्टर से तो आए थे लेकिन ऐसे समय आए कि बरसात बरसात न पड़े और खूब बढ़िया से बढ़िया कुछ खिलाएं पिलाएं भी और सत्संग भी कराएं अब बारह पंद्रह तारीख जून महीने की उस तरफ आने का गुरु पूनम के निमित्त जयपुर वाले जोर मार रहे हैं देखते हैं कैसा होगा लेकिन अभी ये चालीस दिन का आज से नियम ले लो सुबह उठो तो पक्का करना कि कुछ भी हो उसकी गहराई में जो है ना मैं उसी को याद करूंगा सुख भी स्वप्न हो जाएगा दुख भी स्वप्न हो जाएगा और अंतर्यामी प्रभु अपना है वो अपना प्रकट होने लगेगा आनंद आने लगेगा भक्ति सफल होने लगेगी बुद्धि शुद्ध होने लगेगी मन मधुर होने लगेगा कपट भाग जाएगा भय भाग जाएगा शोक भाग जाएगा चिंता भाग जाएगी और पाप बाप रे वो तो क्या भागेंगे वो तो जल जाएंगे <laughs> जहां भगवान की स्मृति आई वहां पाप के भागने का टाइम कहा मिले ओटे जले पर बड़े प्रा भागे कटे पाप भाग जाएगा नहीं बोलता हूं पाप जल जाता है दुनिया के सभी पापी कितना भी पाप कर ले अब भी करा उसे हजार गुना और भी कर ले फिर भी भगवत सुमरण और भगवत कृपा में वो ताकत है कि पाप को जला दे अगर भगवान में ताकत नहीं होती तो अभी तुम सत्संग नहीं सुनते हम पापी कलयुग में रह रहे हैं और पाप भी करते हैं फिर भी सत्संग सुन रहे हैं तो ये भगवान की कृपा है पाप का काफी अंश जलता रहता है इसलिए हम पुण्यात्मा भी तो है अकेला कोई पाप ही नहीं है जाने अनजाने उसके कान में भगवान का नाम पड़ जाता है जाने अनजाने उसके सेवा कार्य हो जाते तो जो भगवान के नाम पर सेवा करते भगवान का नाम लेते सत्संग सुनते उनके पाप भागते नहीं जल जाते तुलसीदास जी बोलते हैं तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा ना है जिसके पूर्व के पाप होते वो हरि चर्चा उसको सुहाती नहीं है सुनता नहीं है और जो हरि चर्चा सुन रहा है सुहाती है तो समझ लो पाप जले हुए हैं जयराम जी बोलना पड़ेगा कहीं हम जो अरे अंदाता सुने रहा हो अंदात्री सुने रहा हो मैं हरिद्वार आश्रम से बोल रहा हूँ यहाँ भी हजारों लोग बैठे अभी अभी यहाँ जरदालू की प्रसादी बांटी अब क्या करें उधर भेजूंगा तो जरदालू बेचारे खिचड़ी हो जाएंगे जरदालू समझते ताजे जरदालू को खुरमानी बोलते और सूखी खुरमान खुरमानी को जरदालू बोलते हैं फिर कुछ लोग तो उसकी गुटली निकाल के फेंक देते मूर्ख है मैं तो उसकी गुटली रखता हूँ तोड़ के उसका अंदर का बादाम निकाल के भी चबा के खाता हूँ छोटी छोटी बादाम तो डेढ़ सौ किलो जरदालू मंगाए सुबह आश्रम वासियों में बांटे अभी कथा वालों में बांटे वो खा के सब बैठे फिर भी बची है अब गंगापुर सिटी वाले मुंह खोलो तो मन ही मन से मुंह खोलो और मैं मन ही मन यहां से तुमको खिलाऊंगा उधर बेचते बेचते तो जरदालू सब खिचड़ी हो जाएगी अगर कोई जयपुर का है और आज ही जाता है तो मैं गंगापुर सिटी वालों के लिए जरदालू देता हूँ कुरमानी है नहीं जयपुर सिटी का गंगापुर सिटी का कोई है क्या इधर नहीं तो आओ प्रा तो मैं दिया गंगापुर सिटी में कब तक सत्संग है हा? आज पूरा हो गया चलो फिर भी मैं देखता हूँ तुमको जरदालू खिलाए नहीं तो पलास के फूलों का शरबत और फलों का रस का जूस वो तो मैं कभी भी आऊंगा पिलाऊंगा ये तो वायदा फलों का जूस और पलास के फूलों का शरबत पलास के फूलों का अगर शरबत वहां मिलता है तो मेरे तरफ से शरबत की बोतलें लेके तरुणा सबको मिले ऐसा पिलाओ जो खर्चा होगा मेरे नाम लिख दो स्टॉल वाले से मेरे नाम ले लो बोतलें पलास के फूलों का शरबत अंदाता और अंदात्रियों को पिलाओ इससे गर्मी संबंधी बीमारियां चली जाती है पलास के फूल का रंग लगने से भी कई बीमारियां भग जाती है तो पलास के फूल का शरबत पीने से तो और भी फायदा होगा अगर शरबत का स्टॉल लगा है तो वहां से स्टॉल से बोतलें ले लो जितना भी पैसा देना पड़े वो तो मेरे नाम लिख ले लो बोले बापू के नाम लिख लो उधार फिर मैं घड़े दूंगा और सबको पिलाओ पलास के फूलों का शरबत अगर शरबत नहीं है तो फिर मन ही मन ये जरदालू खा हो नहीं तो मन ही मन घर पे जाके कुछ खा लेना बापू के नाम लिख लेना पैसा मैं आऊंगा तो दूंगा अरे बाप जी घड़ो ही दीदड़ है बस अतरा इतना बोलते तो भी अच्छा लगता है नारायण हरि अभी हिमाचल के लोग आए हैं उधर सत्संग की मांग कर रहे हैं कई वर्षों से आश्रम कुटिया बनी है उद्घाटन होगा अब मैं कहाँ कहाँ जाऊं तीस तारीख को तो बम्बई पहुंचूंगा इकतीस को बम्बई के पास में सत्संग है तो मैं तीस को इसीलिए पहुंचूंगा कि इकतीस को सुबह जल्दी सत्संग करके एक जगह से फिर दूसरी जगह आदिवासी इलाके में जाऊंगा डेढ़ सौ सवा सौ किलोमीटर दूर तो सुबह आठ से दस फिर ग्यारह से एक नहीं तो होता था ना सुबह नौ से बारह और शाम को तीन से छः अभी क्या किया आठ से दस और ग्यारह से एक दो सत्र हो गए फिर शाम को साढ़े तीन बजे डेढ़ सौ सवा सौ किलोमीटर दूर आदिवासी इलाकों में जाऊंगा वहां भंडारा करेंगे उनको भी जूस शरबत का तो प्रसाद देंगे लेकिन कपड़ा अनाज सीधा सामान उसको बोलते हैं वलसाड़ के पास में है धर्मपुर तो सुबह बोईसर में है इकतीस सुबह को इकतीस दोपहर को साढ़े तीन बजे धर्मपुर में और इकतीस रात को समुद्र तट पे आ जाऊंगा बलसाड़ जिन्होंने समुद्र नहीं देखा है उन लोगों के लिए मैंने वलसाड़ समिति को दो दिन का पूनम सत्संग दिया है तो पहली और दूसरी तारीख दरिया के किनारे बलसाड़ और तीसरी तारीख थाने मुंबई में तीसरी तारीख मुंबई में चौथी तारीख रामलीला मैदान दिल्ली में तो अब तो तुम दिल्ली का भी तारीख सुन लिया वलसाड़ का भी सुन लिया उधर आओ ना आओ लेकिन अंतर्यामी में तो जरूर आओ वाह प्रभु वाह सुख दे दुख दे दोनों है स्वीकार क्योंकि देने वाला है परम कल्याणकारी परम होशियार सुख दे के उत्साह बढ़ाता है सेवा बढ़ाता है और दुख देकर अभिमान मिटाता है आसक्ति मिटाता है वाह वाह प्रभु तेरी लीला परम्पार है जोगी गोरखनाथ जा रहा था तो एक किसान ने देखा कि महाराज महाराज अटिन पधारो अंदाता अटिन आओ अटिन पधारो पधारो जोगी गोरखनाथ उस किसान के खेत में गए पेड़ के नीचे किसान ने उनको आसन लगा के दिया बोले बा बाजी बावटो तो बाप जी आयो है प्रसाद जरा स्वीकार करो तो दही खाने से तो आगे चल के बीमारियां होती है लेकिन जो दही को मथ के मक्खन खाते हैं लस्सी पीते हैं उनको बीमारियां नहीं होती ऐसी सीधा दही तो बीमारियां करता है तो लस्सी मक्खन गुआर फली और राजस्थान की जो सिंगे विंगे ये वो केयर केयर का थाना केयर समझोगे गंगापुर वाला केयर तो समझोगे गोल गोल वो थाना ए बाप जी संतुष्ट हुआ बाप जी जाने को थे तो अरे बाप जी अरे गर्मी में कटकाए काए जाओ जरा आराम करो बाप जी के तो बाप जी ने आराम किया बाप जी जानते हैं कि एक मिनट सीधा लेटना चाहिए डेढ़ मिनट दाही करवट और तीन मिनट बाही करवट तो खाना अच्छी तरह से हजम हो जाता है एक पौना मिनट एक मिनट सीधा भोजन करके और फिर डेढ़ मिनट दाही करवट और तीन मिनट बाही करवट ऐसा भोजन के बाद करने वाला आदमी बहुत अच्छी तरह से लंबी आयुष्य और स्वस्थ रहता है तो गोरखनाथ तो जानते थे तो बाप जी दिन को सोने से बीमारियां होती है रात को जो जगह है वो भले थोड़ा झोंका मार ले बाकी दिन को नींद करते तो जो भोजन किया उसके रोग बनते वात पीत कफ तो दिन को ज्यादा सोना जो दिन को सोते मोटे भी हो जाते और रुग्ण भी रहते तो बाप जी दिन को नहीं सोए गोरखनाथ खाली एक मिनट सीधा लेटे डेढ़ मिनट दाहें करवट लेटे और तीन मिनट बाहें करवट लेटे फिर बाप जी उठ के बैठ गए थोड़ी देर ओम आनंद ओम शांति ओम ओम मानसिक जप करके भगवान के रस में रसमय हो गए वो किसान देखता रह गया बाप जी जब अलख निरंजन सुनाई पड़ रहा है गंगापुर सिटी वालों को अलख निरंजन करके बाप जी जाने को थे तो किसान चरणों में प्रणाम किया बाप जी मैं तो अनपढ़ जाट जाट जाति नहीं लेकिन जाट हूं मैं तो जाटों के पड़ोसी जाट जैसे हूं मैंने कोई आवे नहीं કોઈ મેં पढ़ियोड़ो नहीं बाप जी मारो उद्धार की कर रही मेरा उद्धार कैसे होगा आप कहीं ग्रस्तो तो बताओ बाप जी ने कहा कि रास्ता कहीं बतावे ए, खेत बोले बाप जी खेत तो थोड़को है राजस्थान में तो कहीं हुए गए मैं तो घेटा बकरा चारा थोड़ी खेती है अरे तो बोले घेटा हो बकरा हो उसका जब बच्चा आवे तो उसकी आंखों में देख और बोला कर वाह प्रभु थारी लीला घेटा बकरा दूध देवे घास तो हो लीलो खावे पीड़ो खावे दूध देवे सफेद वाह अंदाता कहीं तारी लीला है वाह प्रभु वाह वो तो थू जाने भाई बोले हाँ अतरो तो मैं घणु જાણું एक बीज ना डाले एक बीज बोते हैं तो कई दाने देते मकई के कई दाने बाजरा के देते जुआर के देते वाह प्रभु तेरी लीला बस वाह थारी लीला वाह थारी लीला वाह प्रभु थारी लीला आतरो तो तू करे सके क्या हाँ बस तो भगवान रो प्रेम उभो वे तो તને बुद्धि योग મળે भाया भगवान का प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तो बुद्धि योग મળેગા ये तो अमल सदा अमल सदा कर करके खोपड़ी के बाल ही चटोगे भगवान का प्रेम मिलना चाहिए रटा रटी तो ठीक है जो नहीं करते उसे रटने वाले ठीक है बाकी प्रेम तो कुछ अलग चीज है वाह प्रभु जो भगवान को यश देता है उसकी बुद्धि यशोदा बन जाती तो देवकी ने तो भगवान को जन्म दिया लेकिन देवकी के पास भगवान नहीं रहे यशोदा के पास रहे ज्यादा तो बुद्धि भगवान को यश दे ऐसी बन गई बुद्धि तो आप भी भगवान को यश देने वाली बुद्धि बनाओ तो यशोदा कृष्ण तो अंतर्यामी तो कृष्ण है और भगवान को यश देने वाली बुद्धि है यशोदा तो किसान को बता दिया वाह प्रभु वाह गडरिया था थोड़ा बकरा मालदारी भी था और छोटा मोटा खेत था हाँ, थोड़े दिन करते करते उसको तो बड़ा आनंद आने लगा गंगापुर वाले सुन रहे हो क्या अंदाता सुन रहा हो अंदात्री सुन रहा हो हाँ, वाह थरी लीला वाह प्रभु एक दाणो बाजरो ने एक कतरा बाजरा रा दाणा बने एक दाणो फड़े जुआर रो कतरा दाणा जुआर रा बने हुको हुको घास खाए के लीलो लीलो घास खाए ना चोको चोको દળ દળો દૂધ દઈ રહ્યા અરે વાહ પ્રભુ વાહ પ્રભુ તારી લીલા પક્ષી કે કર ગાના ગીત ગાવે આહા મધુ શરતી સિંદાવે દરિયામાં કે નદીમાં કે પાણી હાલે તો કતરો આનંદ આવે હે દાતા તું આનંદ રૂપ મેં વસ્યો હે પૂણી મેં થારો સ્વાદ હે હે પ્રભુ તારી લીલા પરંપાર હે હરિ ઓમ હરિ ઓમ નારાયણ હે પ્રભુ ऐसे करते करते उसका हृदय प्रभुमय हो गया तो अंतर्यामी प्रभु भी खुश हो गए तो एक मंत्री आ रहा था जंगल में अरे मंत्री सहाय मंत्री जी होते मंत्री सोचने लगा कि मैं तो पहली बार आया अरे मेरे को कैसे पहचान लिया गडरिया ने बोले आपको राजा ने बोला था कि खुदा ने सपना दिया है कि खजारा खजाना छलकाओ और तुम तो धर्मात्मा मंत्री राजा को सुना दिया कि खुदा का सपना नहीं है आपकी वासना कई कल्पना है खुदा खजाना छलकाने को नहीं दे बोलते खुदा तो खजाने का सदुपयोग करो गरीबों में ऐसा बोलेंगे तो आपकी अपनी वासना खुदा के नाम पर पब्लिक का शोषण करने को करती है तो राजा ने आपको धक्का मार के निकाल दिया मंत्री तो देखता रह गया कि ये घेटा बकरा चढ़ाने वाला इतना अंतर्यामी कैसे हुआ फिर पता चला कि वो अंतर्यामी को याद करते करते वो अंतर्यामी का <laughs> प्यारा बन गया तो अंतर की बातें जानने लग गया मंत्री को धक्का मार के निकाला जिस राजा ने वो मंत्री उधर गया बोले राजा साहब तुम तो धक्का मार के मने तो काटियो पर मारो तो भलो वो मैं तो वो घेटा बकरा चरावा वारो चमत्कार भाड़ियो एक है आपरीन मारी लीला सहेंग बोपरो जाने ओटे राजा के मुंह आऊ भाड़ू तो राजा देखने गया तो वो घेटा बकरा चराने वाला गरीब का मन इतना पवित्र नजर ऐसी पवित्र कि राजा की वासना मिटने लगी और राजा सत्संगी बन गया तो अनपढ़ लोग भी बड़ा बड़ा काम कर ले मेरे गुरु की दादी माँ अनपढ़ थी लेकिन सत्संग में जाती थी फिर मेरे गुरुजी छोटे बच्चे थे ना तो उनको गोद में लेके मेरे गुरु जी का नाम था लीला राम लीला राम तो मैं बोलूंगा वो दादी माँ राम कह को बोलेगी लीला लीला लीला जग के तो लीला है लीला है बहुत लीला ये जो मेरे को तुम्हारी माँ अथवा दूसरी बहू है मेरे को डोकरी डोकरी बोलते डोकरी खांस रही है डोकरी मांदी है मैं मंदी नहीं हूं मैं नहीं खांस रही हूं खांस रहा शरीर मंदा है बीमार है शरीर मैं तो अमर आत्मा हूं मैं तो भगवान की भगवान मेरे वाह प्रभु मैं तो आनंद में रहू वो मैंने डोकरी कह के झोकरी कह के <laughs> बीमार कहे और मैं तो अमर आत्मा वाह प्रभु मैं तो सत्संग की बात वाली है में रहू अने लीला राम राम तो मैं जोड़ियो लीला तू भी आनंद में रह जाए दिख रहा वही लीलाराम लीलाशाह भगवान बने और आशाराम को प्रसादी दी करोड़ों लोग सुखी हो रहे हो दादी माँ की जय हो अरे गंगापुर वालों की भी जय हो गंगापुर में भी ऐसी कोई दादी माँ बन जाओ कोई दादा बन जाओ कोई बेटा बन जाओ कोई बाप बन जाओ जो बन जाओ लेकिन हो जो बाप में बेटे में दादा में दादी में चम चम चमकी रहे वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह कबीर जी ने कहा चलो चलो सबको कहे विरला पहुंचे कोई माया कामिनी बीचे घाटी दोए या तो माया बटोरने में लग जाएगा या तो स्त्री संपर्क में आके अपना भक्ति से फिसल जाएगा बोले माया तजना तो सहज है सहज नारी का नहीं है माया भी छोड़ दी स्त्री भी छोड़ दी साधु बन गया अरे साधु बन गया फिर बोले मठ बढ़ाओ नहीं तो अमल सदा आनंद में अमल अमल अपना नाम ठोकू ये मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ धजना है मानपुरी है जहर की खाए सो मर जाए चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए ये गंगापुर सिटी वाले सुन रहा हो इधर अमलानंद महाराज बैठे वो बड़ी अच्छी चौपाइयां बनाते लेकिन हर चौपाई में अपना नाम घुसेड़ते इसलिए मैं उनको जरा संकेत कर रहा हूं बहुत अच्छे भजनानंदी है उनके होठों से सतत भगवान का नाम चलता है ऐसे समझदार भी है अभी वो जरदालू खा के बैठे ताजे ताजे अभी उनका तुम सुनना हो हाँ? माइक दे दो अमलानंद गाएंगे गंगापुर सिटी जयपुर से सौ किलोमीटर दूर वाले सुनेंगे और यहाँ के भी सुनेंगे दे दो माइक अमलानंद को